राशि का था ब्रह्म अभिन्न ओम के ओम प्रतीकात्मकता सत्यात्मा क्या सत्यात्मा है इधम अज्ञातम सत्यात्मा इधम है एक होना चाहिए सत्यात्मेदम ब्रह्म अग्नि नाम ब्रह्म के यथार्थ अभेद कथन करता हुआ ओम शब्द प्रयोग किया गया है संकल्पात्मक ये शब्द क्या है मन का पर्यावाची हो सकता है ज्ञान के वाचपन में गिनाया तो फलकार और निरंत का स्पर्श दिया खंड में जो है प्रत्याज्ञा खंड में केवल माया ज्ञान है तत्व है चेता केतु चेता चित्तम प्रति असु धीरी शुचि माया वीरम विद्या है इत्यादि एकादश है सारा है प्रज्ञा के अलग अलग नाम है इसलिए प्रति का है इसलिए प्रज्ञा ज्ञान इसलिए संकल्प कल्पात है मन अभी कर्म कार्य कारण यम मेरे द्वारा स्मरण कर्म युद्ध जो जो है सबसे कालयम उसका काल अब उपस्थित हो गया है मरण काल में तो नहीं चाहो तो भी सब याद है जो कुछ जी बचपन से गड़बड़ सड़बड़ किया पाप दिया पुण्य किया सारा स्मरण में आ जाएगा और जन जन्मांतरों का भी कई चीजें स्मरण में आ जाएगा जो कि अगला जन्म के लिए प्राण रूप में उपस्थित होने उद्योग होते हैं और प्रदान करने उपलब्ध जितने भी हैं वो सारे विषय उपस्थित हैं उन उपस्थित सारे के आधार पर ही अगले योगी का यही प्रदर्शन होता है कौन सा शरीर मिलना है वो मरण काल में दिखाई देता है इसलिए कहते हैं वो कहीं उपस्थित हो गया है इतने हे तो ये मेरा मन अब तुम दुनिया को स्मरण मत करो जो स्मरण करने योग्य है मेरा उपाक्षी होता है धन्यवाद तो आत्मा है सूत्रात्मा है उसी का स्मरण करो अन्य का स्मरण मत करो अतः स्मर एकांतम कारम भावितम कृतम एकांतम कारण भावितम एकांतम पद जो कुछ मेरे मेरा भारत है उपलब्ध है कर्म विधान के द्वारा उपासना के द्वारा जो मैं लक्ष्य होता ध्यान धेय होता वस्तु था उस मूल कर्म को भी स्मरण करो दूसरा हे कर दो करते तो हे अग्नि कृतो कौन समय महा अग्नि से तो तो अग्नि कर्तव्य संबोधता पहले ये उपासना कौन करता है मनी को तो करते हैं सारी उपासना इसलिए पहले करते थे सारा उपासना जो तक ज्ञानात्मक वृत्ति ज्ञानात्मक उपासना को करने वाला मन को कहा गया और उस उपासना केवल मैंने किया नहीं है कर्म समुचित उपासना इसलिए कर्म को कर्म क्या है विद्यादि कर्म उनके पूजित नहीं है अग्नि रूपी था और सगल कर्मों के साक्षी कौन है अग्नि है कर्म साक्षी दीपदेवी नमी में जब दीपक जलाएंगे तभी बनाती मन कर्म साक्षी निर्भर दीपदेवी अग्नि मेरा सगल कर्मों का साक्षी होता है अग्नि प्रवती मद कृपल किंचित सर्व हे अग्नि स्मरण यह मया बाह्य प्रवृत्त कर्म बाल्य दशा से लेकर अधिकृत किया और को भी स्मरण करो अरे मन तुम उपास का स्मरण करो हर वे अग्नि मेरे कर्म को तुम स्मरण करो ऐसा दोनों को नियम किया ताकि जो है अब हम लक्ष्य से चुप न अंतिम क्षण बिगड़ गए घर बैठ गए भगवानी अंत काल स्मरण है कि नहीं अंतिम कारण मेरा स्मरण करती है छोड़ तो इसीलिए वो अंतिम क्षण लोग जिंदगी भर किया और अभी बेकार हो जाता है कि अंतिम क्षण की गर्मी और कठिन काम इसलिए है कहता है बता के नहीं हमको संत ने सुनाया था बहुत अच्छे संत ने सुनाया था दादी एक बार जो है महात्मा बहुत तपस्वी महात्मा था बहुत विद्वान था ज्ञानी था सब भाई था सब कुछ था परिपूर्ण गया सोच लो ब्रह्मिष्ट वास्तव में यदि वो रोज गंगा स्थान पर नहीं जाया करते थे तो वास्तव में एशिया रुकती थी रोज इनको वो भी जाया करती थी पूजा करने तो वो देखिए महात्मा इतना निष्ठा प्रयोग करते है ढंग गरम दर्शन हम तो कभी मौका मिलता है अच्छा हो तो होता है तो करते तो हमेशा पता है उन्होंने कहा आप महात्मा जी जो है हम तो आपसे निवेदन करना चाहते थे पूछना का चाहते समय

महात्मा था महात्मा हूँ परमात्मा है तो पहले से थे कभी नहीं बोले कभी इसलिए नहीं बोला था कभी किसी क्षण नहीं प्रारंभ कर्म का कोई भरोसा नहीं अब लेकिन बोले साहब मेरा इंद्र को जब कोई कुछ भी बने आप वाला तुम जब चाहे भूल हो गया हम मरने वाला तो अब नहीं तो बदल सकता पहले भी निश्चय हो गया अब फिसलने का अवसर नहीं है ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं आ सकता इस क्षण में मेरे बोली अपना साधु वृत्ति से ब्रह्मचर्य से महात्मा बने से उन्हें दिला दे ऐसा कोई कर्म नहीं या तुम नहीं अब तो जितने भी बड़े विवेकी बन जाओ ज्ञानी बन जाओ महंत मंगल बन जाओ कुछ भी बन जाओ तुम ये मत सोचो आप महात्मा भरोसा नहीं मरण काल में भी कोई भरोसा नहीं है देखो मन काल प्रार्थना करता है अग्नि ये मन गड़बड़ नहीं करना चाहिए दिन भर पे हम सोच समझ कर तुमको संभालेंगे इस समय मेरा शरीर जीर्णशीर्ण है इंद्रिया जीर्णशीर्ण है मैं तुमको नियंत्रण तो कर नहीं सकता मैं तुमसे नहीं कर सकता हूँ कृपा करना इस समय जो बाह्य अवस्था के भीतर मैंने कर्म और उपासना किया है उसी का स्मरण करो अन्य चीज का स्मरण करता है वापस लौटे पुनरावृत्ति मार्ग अशोभन मार्ग है अनावृत्ति मार्ग शोभन मार्ग इधर सुपथा सुपथा हटा देते कोई मार्ग चले चलो मेरे मेरा भी मार्ग क्या मार्ग में तो कहता मैं हम उसके अधिकारी तो हूँ हम जिसके अधिकारी हैं उस मार्ग में तुम्हें ले चलो राय अभी मैं इसलिए आपको नहीं कह रहा हूं कोई जो है बिना कुछ किए मुझे ऊंचाई मारते हुए हमारे कर्म पर का भोग क्यों आए मेरा ऐश्वर्य क्या ऐश्वर्य मेरे कर्म उपासना समुचित जो फर्क है वही आप ऐश्वर्य उसकी प्राप्ति के लिए मुझे उस शोध मार्ग प्रेम मार्ग से ले चलो और जो कहोगे भाई तुम्हारा जो पाप भी है, है? कैसे मैं तुम्हें ले करूंगा कहते आप उसको कर दीजिए अस्मान विश्वान देव विद्वान हमारे द्वारा किए हुए सकल कर्मों को विश्वामी वही वयुनानी कर्मान को ज्ञानानी उपासना कर्म को आप अच्छी तरह से जानने वाले हे देवा हे प्रकाशमय देवता आप जो है मेरे द्वारा किए गए समस्त कर्मों को और उपासनाओं को विद्वान जानते भी हैं इस निवेदन है यदि अस्मत एन यदि मेरे अंदर किसी भी प्रकार के कुटीर पाप कर्म भी है तो जुगराण में कुटीरम जुगराण में पाप यदि है तो योगी उसको काट के फेंक दो ऐसे मैं तुम्हारे लिए इतना भला करूंगा तुम मेरे को क्या देगा आज के जमाना जैसे हम आगे काम कर देंगे ना पचास रुपए तो कम से घूम दो तुम भी आगे घूस दोगे मैं क्या करूँ तुम्हारा काम करने के लिए जाने से ले लेट चार में आकर ले जाते टैक्सी वाले ऐसा नहीं हमें दस किलोमीटर तक देना पड़ेगा कोई भी काम आज के जमाने बिना कुछ लेन देन का होता ही और संसार में होने ही लेन देन से सब कुछ है पूरे संसार गति अंतर्गत यहाँ में लेन देन की बात हो रही है और वो मुख्य कहते हैं महाराज अभी समय क्या मरण के साथ मरणाधन इस समय मैं आपको हाथ जोड़ के नमस्कार करने की सेवा है गमय सुभा शोभने शोभन मार्ग से शोभन मार्ग न पूजना क्या समाधान से प्रसिद्ध हुआ न सुपथका हो जाता का प्रत्याग होना चाहिए नहीं हुआ क्यों न पूजना पूजना कथन करना हो उस स्थिति में निषेध करना इसीलिए ज्ञापन हो रहा है कि शोभन मार्ग पूजनीय मार्ग अपिच्छी सीमा शोधन को ध्यान रखकर भाष्यकार ने कहा शोधवनी मार्गी की विशेषण दक्षिण मार्ग नृत्य सुपथा सूर्य विशेषण दिया गया है वो दक्षिण मार्ग का निवृत्ति निर्विंदो हम न मार्गेण मुझे तो पूरा वैराग हो चुका है कई बार इस मार्ग से गया अब उस मार्ग से मेरे को पूरा वैराग और मैं कर्म नहीं काटना चाहिए मैं कर्म मुक्ति तो सही लेकिन मुझे पुनरावृत्ति अपेक्षित नहीं है लेकिन हम लक्षण न मार्गे न गतागत लक्षण न कैसा गमनागमन रूपा है पुनरावृत्ति रूपा है उससे तो मेरा पूरा राज्य हो गया है इति कर्माणी प्रज्ञानी कर्म भी है लक्ष्य केवल उपासना के नहीं है किंतु कर्म और उपासना दोनों किया हुआ है इसमें कर्माणी प्रज्ञानी विद्वान जान आप जानते हुए आप मुझे इस मार्ग से नहीं मतो जुगुराय वंचनात्मक ये न पाप कल ये जो वंचनात्मक पाप है हमें हमेशा ये भुलाए में डालने वाला है उच्चारा पता है पाप पता ही नहीं चलता आपने पाप गए पाप कौन है और तो आदमी को मालूम नहीं रहता है पाप इतना छिड़ी करती वंचना वंचना रूपा पाप पुण्य करते भी उसको बुरा नहीं होता है कहता है मैंने कभी आप रास्ते महाराज हमने जीने से भी छीटी तो नहीं हम मेरे पास क्यों ऐसे हो रहा तेरे ग्रह पर अपना पुण्य ही दिख रहा है चीटी ही नहीं मारा हमने कितना पार के को बिठाई दे रहा अच्छा कैसे महाराज हम उसको समझाना जरूरी डॉक्टर साहब आपने पिता माता खा किसी का नहीं बोलते तो हमें कितने पाप किया हम कहते अच्छा तो विश्वास जो उदार पूजा पाठ करने वाले हो बड़े बीमार तो हो बताए भगवान तुम्हारे साथ क्यों अन्याय कर हमें ये समझ में आ रही है कि भगवान आगे को अन्याय क्यों कर रहा है ये फालतू का अन्याय कर रहा है खैर तो भाई विचार करेंगे कि आप कुंडली दे रहे कि क्यों हो रहा है कौन सी ग्रह बिगड़ा हुआ है क्या हो रहा है उसके साथ तो भाई जो देखना तो ये तो देखना है तो आपके माता पिता हम्म, उनको ध्यान रखो भारत हम्म, हम्म, बताए कि गाँव में क्या आ गया नहीं जाओ बात नहीं तुम्हारा जो दाया खाते दूसरा रोज रोज खा रहे तुम्हें पाना खाता सब्जियां खाते हो क्योंकि सब्जी मिलती नहीं वाला ये होता माता पिता किसी मेरा तुम चिंती की रहने वाले तुम इसका लाभ को प्राप्त नहीं कर दिया किसी परेशानी हो और सत्यनाश होगा हमारा पहले बोल रहे <laughs> तो हमें और है क्या बजे करो करो उनकी भगवान उनका गिलास पानी भी पिलाना चाहती है सासू को इसलिए ऐसे कर रही वो कहे तो बड़ा मजे में रहे मजे में रही हो मजे में रहे वो जानता हूँ फिर कहते महाराज क्या करी तुम माना सभी ने कहा जमाना है भगवान तीसरे भगवान ने भी जमाने के अनुसार चलते तब्दील भगवान की क्या भगवान का तो है महाराज जो हो गया वो क्या गलती अब बताओ जब क्या करना है बताइए बीस हजार खर्च कराया तो बिना महाराज क्या किया है चलो देवता के करो हवन करो पूजन करो तप करो व्रत करो मुझे माँ को घुसाता नहीं है तो नहीं थोड़ा तो बदला सोमवार को व्रत करो दो दिन में कभी जा देते हैं सोमवार की गुरुवार की करते हैं मंगलवार शनिवार की कर लेते हैं दो व्रत दो दिन भूखे ठीक है ऐसे करना पड़ता है इसलिए हर एक करोगे तो पाप है ना कुटिल है ये ये कुटिल पापों को पता नहीं चल रहा मेरे बाप ने कितना जी नहीं जी क्या हुआ क्या नहीं हुआ इन कुटिल पापों को आप ही नाश कर देंगे तथो वह विशुद्ध आत्मत इष्ट भाक्षण उसे क्या होगा फिर तो उसे मैं विशुद्ध होकर के इष्ट तो जो है ना उसको मैं प्राप्त करूंगा तो न शक्नुवा भूतराम परिचर्या में भूतराम परिचर्या कर दो अधिक और कोई सेवा करने में सक्षम नहीं थी क्योंकि ये मरा है इसलिए नमस्कार वचन नमस्कार परिचय करता है नमस्कार के द्वारा एवं आपकी सेवा समर्पित करते हैं यदि उभयम सपर्यति न मत्स्यति तवस्यति द्रोवी निरीक्षति संपरिराग राधती दस परीक्षण कर्माना कि दस प्रकार का जो है परिचर्या कर्म हुआ करता है ऐसा निधन के लिए कहा दस प्रकार से पूजा होती है एक उसमें नमस्कार भी है सर्वद विवास देवी दस परिचर कर्माना इसलिए विधेयन मनी क्या है परिचारक नहीं है यहाँ विधेयन मनी है विधेमा विपाद काल में पर्यावचन क्या है जस जो है पूजा तक है में भी पूजा तक ही है परिचर्या के सेवा तक की बनी इस प्रकार हाँ, का अर्थ को पूरा अब शंका होता है कुछ लोगों को महाराज विद्या अविद्या जो कहा और विद्या का द्रवी भी अपनी पूरी नहीं आया व्यापक क्या व्यापक तो तो होता है विद्या शब्द ब्रह्म विद्या आप विद्या से यहाँ ब्रह्म विद्या नहीं लेकर के आपने यहाँ उपासना लिया ऐसे किस आधार किसी को हम संशय हो रहा है अविद्या वृत्ति विद्या अमृतम स्थित विद्या से विद्या अमृत शब्द से मोक्ष लेना चाहिए और भाष्यकार में ऐसा नहीं हुआ संभूति से शुद्ध ब्रह्म विद्यालय और हमने सब समक्ष में शुल्क के यहाँ इन दो मंत्रों का ग्यारहवें मंत्रों का जो हमने अर्थ किया है उस को सुन करके किंचित कुछ लोगों ने की संशय करते हैं अर्थतम निराकरणार्थम संक्षिप्त विचार नाम कृष्ण फिर संशय बनेगा इसलिए मैं संक्षेप से जो है विचार करता हूँ मैं हूँ अगर भाई हम आपसे पूछना चाहेंगे यहाँ पर क्या निमित्त आपको संशय क्यों करेंगे तो कहता है हमारा संशय इसलिए है विज्ञा शब्द मुख्या परमात्म पश्चात होती अमृत इसीलिए अमृतत्व शब्द अमृत शब्द को भी मुख्य मुक्ति से मोक्ष पर क्यों ले लेते हो ये हमारा कारण संशय का कारण ये है कि विद्या शब्द और अमृत शब्द ये दोनों ही परमात्मा का ब्रह्म किया और मोक्ष में ही इन अर्थों का क्यों ले रहे हैं ये हमारे संशय का कारण बन गया अस्मात्मा विधि मुख्य त्याग मुख्य को त्याग करने के लिए कोई कारण होना चाहिए ना ये नियम है कोई भी वाक्यार्थ है जब मुख्यार्थ का बाहर हो जाए तब हमको लक्ष्यार्थ नहीं आ चाहिए अब मुख्यार्थ को बाहर क्यों हो रहा है उसको हित दर्शन करानी पड़ेगी अमुक कारण है तो अमुक प्रयत्न नहीं दे सकता हूँ इसलिए लक्षिता जो है उपासना अन्य कोई भी चीजें नहीं जरूरी जिस गुरु आयाम घोषण कर देता है वह घोष गंगा प्रदान होना बाधित है अतीव जो है घोषानुरूप गंगा प्रदान कर गंगा तट लेना पड़ता है लक्षण करनी पड़ती है ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी इन शब्दों के मुख्यार को परित्याग करके गौरार्थ उपासना और जो है हिरण्य जगह प्राप्ति में स्वार्थ लेना चाहते हो तो कोई न कोई हित को आपको दिखाना तो कारण है तो क्या तो क्यों बाधित हो रहा है यहाँ बताओ उक्ता यहाँ परमा विद्या कर्मश्च विरोधा समुचय अनुवृत्ति उक्ता यहाँ परमात्म विद्या जो परमात्म विद्या है और ईशावार है उसको कर्म के साथ विरोध असंभव है इसलिए शुद्ध ब्रह्म ज्ञान को आप कर्म के साथ सुरक्षित करके इस तरह से अयोध्या मृत्यु के प्रावधान शब्द मतलब है इसकी व्याख्या नहीं कर सकते विद्या और कर्म दोनों परस्पर विरोधी है ऐसा सिद्धांत बोले यहाँ सिद्धांत अपने जवाब छुआ था इसलिए हम यहाँ पर विद्या सबसे हम परमात्म जन्म ले रहे हैं उपासना ले रहे हैं सत्यम का तो सही है गुरु सिद्धा है ज्ञान विरोध करा तो विरोध ही हुआ विरोधाग्रह हुआ शास्त्र प्रमाण करता है क्योंकि विरोधाग्रह दोनों ही शास्त्र के प्रमाण की वजह से होता है नावकर्म भी पक्ष कहता है विरोध यहाँ पर कोई बोध नहीं होता है क्यों तो विरोध वाला विरोध तो शास्त्र से नहीं होता ना उदिदे जुड़ती अनुविदे जुड़ती उदिदे जुड़ता जुड़ता इस प्रकार का जो विरोध होता है ना शास्त्र से ही निर्णय होता है विरोध है या अविरोध है यह बात शास्त्र से निर्णय होता है तथा अविद्यानुष्ठान विद्योपासन शास्त्र प्रमाणिकम तथा जब विरोध विरोध होती अविद्या का अनुष्ठान विद्या का उपासना इन दोनों ही बातें शास्त्र प्रमाणक होने प्रमाण इनके विरोध विरोध भी शास्त्र प्रमाण से ही सिद्ध है तथाचा उसके लिए उपयुक्त में अग्र है इसे मन जो बर्बाद बताने की शास्त्र में उपदम उन्हें शास्त्र ही बता देते अध्वरी क्वेश्चन क्वेश्चन इसी प्रकार यहाँ पर प्रसंग हो एवं विद्या विद्योर शिक्षा इसी पर विद्या विद्या नहीं समझिए विद्या विद्यो सर्वकार से शास्त्र नहीं हुई तत्वाल ये पहले पहले ही विरोध होता है विद्या का अधिकारी दूसरा है कर्म का अधिकारी दूसरा है अलग अलग सब बता दिया गया फिर बाद यहाँ आकर के ऐसे कहा करके समुचे भी विष्णु को बता दिया पहले मानसार बताया विष्णु जी को बताते विष्णु की बात कह रहा है पहले ब्रह्म विद्या और कर्म विरोही है ये बात स्वयं शास्त्र ने बताया तीन जन्म आयुर्वेदी रूप में ब्रह्म विद्या कर्म के समुचे भी स्वयं शुद्धि बता रही है जो तो क्या प्रतीक थी इस विद्या और कर्म का सूची ही ज्ञान कर्म सूची से मोक्ष मानना चाहिए विद्या कर्म से समुच्चय सिद्धांत कहेगा भाई ऐसा आप नहीं कर सकते विद्या और कर्म का समुच्चय कभी हो नहीं सकता विपरीत सूची अविद्या विद्य शब्द है उनके लिए देखो इच्छा जो है होती है क्या उसके ही पूर्वा होती है वो इच्छा कर्तृत्व भोक्तृत्व रोहित के विशिष्ट इच्छा हो और कर्म कर्तृत्व को विवेक तो कर्माधिकारी वो है जिसके अंदर कर्तृत्व भोक्तृत्व का अभिमान अपने आप में कर्तृत्व आदि का अध्यास कर लेता है और जो अध्यास करता है ही नहीं इतना ही नहीं करता तो ऊपर से जो है अपने आप को उसमें दृढ़ निष्ठा रखता है हाँ मैं जीव हूँ पक्का और जीने की इच्छा करता है इसी से छत्रपुर सलाह व्यक्ति तो तो क्या है कर्म का और मुख्या उसके अंदर हो सकता है जो परोक्ष रूप से ये जान लिया है मैं जीव नहीं हूँ मेरे अंदर कर्तव्य की वास्तविक नहीं हूँ मेरा वास्तविक स्वरूप ब्रह्म है मैं उस स्वरूप को प्राप्त करना चाहता हूँ ऐसा जो चाहता है वही मुझे गुरुपाधिकार है ना हेतु मैं कारण अधिकारित में विरोध है दूसरा स्वरूप विरोध भी है स्वर्ग विरोध क्या है एक विद्या का स्वरूप क्या है वाक्य जन्य तत्व ही इंद्रिया चेष्टा में रखेगी मार्ग परिणाम हो विद्या स्वरूप टिप्पणी कहते हैं जो अहम ब्रह्मात्म इत्यादि महावाक्य जन्य जन्य जो तत्व का अवधान कराने वाला इंद्रिया निरपेक्ष मानस परिणाम विशेष ब्रह्मागार जो वृत्ति है वो विद्या है और अविद्या क्या है सर्वेन्द्र क्रिया अविद्या सर्वमिति सर्वेन्द्रिय जिनकी क्रिया वो स्वरूप है क्रिया बहुत स्वरूप है तो अक्रिया रूप है तो और एक क्रिया रूप विद्या अक्रिया रूपा है और अविद्या क्रिया रूपा है इसमें गौरव का समुच्चय नहीं हो सकता तीसरा अलग रोगाक्षा ब्रह्म विद्या में मिल गया नित्य शाश्वत सुखानुभूति है सुख स्वरूप अनुभूति है और अविद्या का फल क्या है अनित्य स्वर्ग आदि फल है इसलिए हेतु का विरोध स्वरूप का विरोध और फल का विरोध होने से ब्रह्म ज्ञान का कर्म के साथ निश्चय नहीं हो सकता ज्ञान कर्म समुच्चय से मोक्ष प्रवाद का खंडन करता है विद्या विद्या विरोध अविरोध विरोध विकल्प असंभवाद समुच्चय विधान अविरोधेगा पूर्व पक्षी महाराज विद्या अविद्या का परस्पर विरोध अविरोध विरोध विरोध और देखने में स्पष्ट ही है हम भी मान रहे हैं भी का ही कथन है लेकिन उसका क्या है अविरोध का ही कथन है न्याय हमारा विरोध का कथन स्वीकार कर रहा है ब्रह्म ज्ञान का पर उनके साथ विरोध भी है लेकिन मतलब आविरोध का भी प्रतिपादन हुआ है सुनते इसको भी तो सुंदर शंकर भाषा नहीं वो कहता है अविरोध का भी तो विधान है और कहीं भी लेकिन इसका निषेध नहीं है विकल्प भी नहीं है इस समीक्षा है विधाना विकल्प असंभव समुच्चय विधाना इसे नीति अन्वय जो भी अत्यत्रात्र षोडशनादि धात्रात्र षोडशन गृहणादि इत्यादि में विकल्प की संभावना थी यानी यहाँ पर विकल्प की भी संभावना नहीं कई दो क्रिया पर विरोधी हो जाए तब विकल्प हो सकती है कई यहाँ पर एक बाहरी क्रिया है एक अंतर क्रिया ब्रह्म ज्ञान मानस है और कर्म भारी है इधर दोनों का समुच्चय हो सकता है इसे विकल्प करने की जरूरत नहीं है इसका विकल्प असंभव समुच्चय विधान अच्छा अविरोध सिद्धांत कहता है भाई असंभव अनुपत इनका एक साथ होना असंभव है यह जैसे जब ज्ञान हो गया क्या होगा न तुम तो हम नगर जगत वाला हार है सारा नाश हो गया अब कर्म कौन करेगा कर्म कौन करेगा कर्म चुरा नहीं भूत चुरा नहीं कर्म कौन करेगा संभव ही नहीं के लिए सहसंभवन अनुभव क्रमेण श्रेष्ठ स्नाता विद्या विद्युति चेतना क्रम जगह क्रम है क्रम जगह पहले कर्म तो का अनुपान कर लेगा उसके बाद तो कर्म कांड करने लग जाएगा क्रम विद्या पहले उसके बाद में विद्या पहले ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करेगा फिर अज्ञान को प्राप्त करके तो दोबारा कर्म प्राप्त कर जाएगा ऐसा भी हो सकता क्रमेण एकाश्रय श्यादा विद्या विद्यी पूर्व पक्षी ने कहा क्रम से दोनों को आश्रय की है समान पहले विद्या प्राप्त कर लेगा ब्रह्म ज्ञान उसके बाद अविद्या को लेकर जो अपने कर्मकांड करेगा दोनों काम करे पहले ब्रह्म ज्ञान हो जाए विद्या से ब्रह्म ज्ञान शब्द लिया उसने पहले ब्रह्म ज्ञान जिस जीव का आश्रय में आश्रित होगा उसी जीव में अविद्या भी रहेगी और वो कर्मकांड करते रहेगा अतः दोनों ज्ञान और कर्म का समुचय हो सकता है आई तो अस्तित्व विद्या की जैसे उत्पत्ति होगी अविद्या का हो गई अविद्या का नाश हो गया है अविद्या रहेगी कैसे वो विद्या और अविद्या परस्पर विरोधी है जहाँ विद्या रहेगी वहाँ विद्या नहीं हो सकती बाधित अविद्या को लेकर वहाँ हो सकता है वो अलग चीज है पहले कर्मकांड का अधिकारी होगा और कामना करेगा ये तो असंभव है बाधित मिथ्याभूत अविद्या को लेकर के प्रारंभ कर्म के वजह शरीर चलते रहेगा और जो प्रारंभ कर्म के अंतर्गत यदि उसके द्वारा विस्तार किया जो पूजा पाठ करते रहते सिर्फ तो चलते पूजा पाठ करते रहेगा मतलब ये नहीं कि कामना को लेकर स्वर्गारी की कामना जो संफल पूर्वक कर्मकांड करे वो कोई संभव नहीं उपत्तो अविद्या अस्तित्व तो आश्रय अविद्या नहीं करते इधर विद्या का आश्रय होता उस जीव में जो मुख्य और आमुक्त पुरुष में अविद्या का होना असंभव है नहीं उत्पाद प्रकाश चेती विज्ञान यस्मिन्नाश्रित उत्पन्न तस्मिन्नोराश्रय शीतो अग्नि प्रकाश होगा अविद्यावृत्त बिना भी संशय ज्ञान होगा क्योंकि जिस प्रकार से किसी वस्तु में पहला आपको अनुभव हुआ ये अग्नि है इसलिए ये गर्म भी है और प्रकाश भी देता है ऐसा जिस वस्तु ने पुष्पत्व और प्रकाशत्व का अनुभव किया उसी ने इसलिए दो क्षण बाद में कभी अनुभव क्या कि ये नहीं ये गर्म करते है और प्रकाशवान होते हुए भी ये ठंडा भी है अप्रकाश वाला भी है ये जिस अधिकार में आपने पहले गर्म और प्रकाश का अनुभव किया उसी अधिकार में क्षणांतर में जाकर के ठंडा और अप्रकाश का अनुभव होगा क्या कभी नहीं होगा क्योंकि यदि आपने अग्नि में योग किया था धर्म और प्रकाश को फिर वो अग्नि का संभाव है स्वरूप इसलिए वो कभी क्षणांतर में ठंडा और अप्रकाश रूप तो नहीं हो सकता इसी प्रकार जिस आश्रय में विद्या उत्पन्न हो गई और उसने अपने आनंद स्वरूप का अनुभव कर लिया है फिर उसी अधिकरण में अविद्या पर करके प्राय को लेकर कामना पर संकल्प करते हुए कर्माधिकारी नहीं हो सकता क्योंकि उत्तर क्षण में उसके अंदर से उत्पन्न होने वाला न तो संशय हो सकता है न तो अज्ञान ही होगा जिस प्रकार एक बार हमने अग्नि का परिपक्व अनुभव कर लिया है उसके बाद कभी अग्नि के बारे में आपको संशय नहीं होगा चाहे कोई जितना भी करे जैसे आपने अनुभव कर लिया है कि दूध कैसे होती है तो होती है सब अनुभव सिद्ध है इन कोई आपके सामने तर्क कर दिया अरे तुम नहीं जानते तुमने केवल सफेरे जाएगा तुमको देखा इसलिए तुमको हमेशा तो सफेद दिखाई हमने देखा काली गाय कभी काली होती है लाल गाय की भी लाल रंग की होती है तुम क्या आप मान रहे जितना भी कोई तर्क से अनुमान से किसी प्रमाण से करने की चेष्टा करे आके ही कहेंगे नहीं जी गाय का कोई भी रंग भी हो दो पशु के भी ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक बार रुपया उत्पन्न हो गया और आपका अपने स्वरूप का निश्चय हो गया ज्ञान हो गया यदि ये बाल दृष्टांति का अग्नि है उसके स्वरूप का आपका अनुभव कर लिया है ये विष्णु है कर प्रकाश है उसके बाद अविद्या के कारण से अविद्या उत्पन्न हो और उसके द्वारा संशय या ज्ञान नहीं होता है क्या जैसे ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी विद्या उत्पन्न कर हमें स्वरूप का अंतर हो गया उसके बाद दोबारा न वहाँ विद्या की उत्पत्ति होगी न विद्या का कार्य संशय और मिथ्या ज्ञान ही नहीं हो सकता तो कह अविद्या उत्पत्ति नाप संशय अज्ञान उस स्थल में न तो अविद्या की उत्पत्ति हो सकती है न तो अविद्या का कार्य संशय अज्ञान ही रह जाएंगे क्रियापाच दृश्यते में कस्यचित कर्म से चेष्ट कहा गया इसलिए देखो अकाम क्रिया का कस्यचित से अकामी किसी पुरुष के अंदर किसी भी प्रकार का आचरण क्रिया नहीं दृश्य किसी प्रकार की क्रिया नहीं दिखाई दी आनंद गिरी में है ईश्वर जो जो कुछ भी ये जीव जंतु मन जीव करता है वह सब कामना से चेष्टित हुआ करता है और जो अकामी है वो करेगा कैसे हमको इसलिए कहीं इसलिए आपको भाव न हन्य से हन्य ज्ञान था जो हम करने करने हमें तो तो ये जो है आपने जो है चाकू बनाने वाले को पकड़ते नहीं किसी ने चाकू खरीदा और चीज में मेरे पकड़ दिया हाँ? तो क्या आप चाकू को बनाने वाले को पकड़ोगे वो कहेगा मैं तो जो चाकू बनाया हूँ मेरा चाकू बनाने का जो उद्देश्य है वो केवल जीव रामाना करेगा सदुपयोग करेगा सत्कर्म प्रयोग करेगा ये काम तो मैंने बनेगा लेकिन उसने भी आए वहां जाकर के उसको गलत इस्तेमाल किया तो मेरे जीवन थोड़ी है उसी प्रकार यहाँ पर भी है जब कर्तव्य तो मेरे अंदर है ही नहीं शरीर में जो कुछ भी हो गया है प्राण कर्म की वजह से उसके लिए हम उसका फल भुगता नहीं पुण्य पुण्य विषय करते को पुण्य या अपुण्य मुझे भाव को स्पर्श नहीं करेगा ये नहीं पुण्य पुण्य मेरा पाप मेरा नहीं पाप करेगा ऐसा नहीं पता ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी क्या शरीर से होने वाले क्रियाकलाप उनका न पुण्य उसका है न पाप सेवा करने वालों को पुण्य प्राप्त होता है शरीर से जो भी नहीं होगा कोई सेवा करने वाला इस पुण्य को ले जाएगा और शरीर से जो भी पाप हो जाए तो वो उसका जो है उसका निंदा करने वाले विरोधी जो है उनका इसलिए भगवान ने ब्रह्म ज्ञानियों का भी संतान का भी शत्रुओं को हमेशा पैदा कर रखा है कोई ना कोई निंदा करने वाला आपको जरूर मिलेगा आपको अपमान करेगा आपको विरोध करेगा कोई कुछ भी कर सकता है आप कम करने वाला हर जगह कोई ना कोई मिलेगा मिलेगा तो फिर आपका पाप कहा जाएगा समझा दे तो ना आप तो ज्ञानी है आपके शरीर से जो पाप हो रहा है प्राय कर्म से वो पाप कौन लेगा भगवान थोड़े लेगा कोई तो लेने वाला चाहिए ना उसको भी तो इसलिए यही विरोधी आप जहाँ भी जाएंगे कोई ना परेशान करने वाला मिलेगा कोई तो आपके पास ले जाएगा ना इसे पुण्य ले जाने वाले बहुत आएंगे जी लेकिन पाप ले जाने वाला भी तो कोई चाहिए इसीलिए उसे घबराए छोड़ दीजिए कि अरे हम ऐसे हैं हमारे साथ ऐसे क्यों कर रहा है अरे नहीं होगा तो तुम ज्ञानी हो जब तेरे साथ ऐसा होगा तो उसका भी आनंद लोग आज है एक तुम्हारा पाप ले जाना अच्छी है ये लोग घबरा किसी के अधीन में निष्ठा परिपक्व नहीं इसे निष्ठा परिपक्व हो जाए फिर आप विचार लेते हैं भगवान गीता भयंकर से भयंकर गुस्सा विचलित जो निबंध के रूप में उल्ट बाबा उल्ट जानते हैं ये बहुत ही अच्छा दृष्टांत मिलता है इसलिए बता रहा हूँ तो एक बार क्या हुआ कि बुढ़िया जो है खेती में होता है मचान बनाते जब फसल क्या होने लगता है तो जैसे बीज लगने लग गए फसल लगने लगा उसी समय से जो है मचान लगाते हैं तो मचान के ऊपर धीरे धीरे ठंडा हो जाता है धीरे धीरे टन टन टन मिला आगे है दंड जड़ी कोई चीज आ जाए पक्षी अगर आ जाते हैं माने हजारों पक्षी आसपास गिर जाते एक बार मुद्द मैदान में गया है अंदर वहां आने लगा और मुझे बाबा टन टन टन टन बजा हम मुझ को सुनी डरे सुनता ही नहीं है इतने हजारों पक्षियां उड़ गई डर के मर और ये मूर्ख डंडा के मर काट तो डर ही लगता है इतनी बार मैंने बजाया सुनते ही नहीं सूरज बाबा कहता है अरे माता तुम्हारी बकरी की आवाज मेरे को क्या बता जानते हो ये महाभारत के आवाज थी है और वो आवाज में भी मेरे आत्मा में कंपन सा नहीं हुआ एक छोटा सा कंपन भी नहीं हुआ वाली व्यक्ति मेरे को डराई नहीं है इसी प्रकार से जिस आत्मा के ऊपर अनंत ब्रह्मांड गणित है उस आत्मा का स्वर्ग कोई हानि नहीं हुई है और उस आत्मा के स्वरूप में आप निष्ठ हो जाए कहीं एक जगत मत क्या करेंगे जब अहिंद ब्रह्मांड इसको नहीं बिगाड़ पाया एक छोटा सा जगत जो परिदृश्यमान है ये हमको क्या बिगाड़ ये भयंकर आवाज कुछ नहीं कर सका तो एक छोटी सी धरती की आवाज जो कंपनी की था इसी प्रकार जिस आत्मा स्वरूप अनंत ब्रह्मांड कल्पित है आत्मा में स्थिर हो जाए फिर आपको जगत क्या दिया इसी बात ने उन्होंने कहा गुरु आपकी आपकी भयंकर से भयंकर जो कौन का जगत ये जगत ही तो देगा अरे एक जगत हमें क्या देगा जिसमें नंद जगत को हम देख रहे तमाशा तो एक जगत की तमाशा में कोई दुख आ गया इसलिए बात यहाँ पर कि यज्ञ देव को यदि भगवान भूतानी आत्मी भूत जानता पहले कह दिया है ईश्वर भी जो आधार पर यदि शोक मुहारी अधुगम शब्द शोक मुहारी जिस अधिकार में जिस जीवात्मा का अपना आध्यात्मिक जीव में जब उसके स्वरूप का ज्ञान हो गया देखना भगवान भूतानाती हो तुम्हारे भूतों को आत्मपूर्ण में जान लिया है तब उसको मोह शोक समझ सकता है करने वाले को इसलिए शोक मुहारी है इसे जिसमें ब्रह्म ज्ञान हो गया उसमें कर्म का संभावना नहीं अविद्या असंभवाद उपादान से कर्मों की अनुपत्ति अवोच्छा अविद्या ही असंभव होने से वह है कार्य जिसका अन्य जो कर्म है वह भी उत्पन्न नहीं हो सकता यह बात हम आरंभ में ही संबंध भाष्य में स्पष्ट कहा है इतनी यहाँ पर मिले इसकी तरह से जैसे विद्या संस्कार दूसरे क्या हुआ धर्म विद्या नहीं हो सकते उपासना की इसी प्रकार विद्या अंगुष्ट तो अमृतम का अर्थ अमृतम ये की आपेक्षितम अमृतम विद्या चक्षुरा परमात्म विद्या ग्रहणे इत्यादि इत्यादि द्वारा आदि आचरण की अनुपूर्ण तस्मात उपासया समुच्चय मत परमात्म ज्ञान इस प्रश्न इस अमृतम से भी क्या तो है ना आपेक्षित अमृतम आपेक्षित अमृत भी शाश्वत स्वर्ग का अमृत ऐसा होना चाहिए आपेक्षिका अनुपूर्ण क्या नुकसान विद्याचरण के द्वारा परमात्म विद्या का ग्रहण करने पर एक और समस्या खड़ी हो जाएगी क्योंकि अमृत से मुख्य अमृत लोग मोक्ष और विद्या से ब्रह्म ज्ञान लोग तो ये याचना क्योंकि किया भगवान की है जो ब्रह्मज्ञानी है उसे सारा भूत पाया सारी चीजें यही विलीन हो जाए पहले आता जाता मोक्ष की स्थिति जब ऐसी स्थिति है मोक्ष का स्वरूप इस तरह का है तो जाने के लिए प्रार्थना क्यों करेगा इसलिए तो से लोग को आपेक्षित लेना पड़ेगा और विद्या से उपासना लेनी पड़ेगी लेकिन तो विद्या से अगर परमात्मा का को तो ग्रहण करोगे तो यह द्वार मार्ग आदि आचरण अरे द्वार को खोलो मार्ग को प्रशस्त करो इत्यादि जो याचना है प्रार्थना है वो तो अनुगमन उपासना उपासना समुच्चय और उपासना का कर्म करना न कर्मा विद्या नहीं यथा अस्मादीर व्याख्या मंत्राणाम अर्थ उपरंते इसे जिस प्रकार से हमने व्याख्यान किया है वही इन मंत्रों का वास्तविक अर्थ हो सकता है अन्य कुछ नहीं हो इतनी ही कहा करो और इसकी शरणार्थ विषय पर अपना विचार को विश्राम देते हुए श्री वीरेंद्र भगवत पाद पूज्य पाद शिष्य से परमांग कल्याण श्री सुंदर भगवत कृदो राज सने से तो कोई इस प्रकार से विभिन्न भगत पूज्यपाल के शिष्य परमांश आचार्य श्री व शंकराचार्य है उनके द्वारा कदा वाजश्री शुक्ल चतुर्वेदीय वाजश्री स्वीकार विमान ईशा वास्य परिषद के भाष्य परिपूर्ण पूर्ण मजाक है तो पूर्ण से पूर्ण ही निकला था वह पूर्ण हो गया पूर्ण